स्वप्नांना सांगा रे सांगा कुंदकळांना वेलीना सांगा रे सांगा हे भास होती कसे हे नाव उठी कुणाचे का सांग वेड्या मना मला भान नाही जगाचे मला वेड लागले प्रेमाचे मला वेड लागले प्रेमाचे प्रेमाचे प्रेमाचे नमस्कार नमस्कार मी मनीषा देशपांडे मी नितीन देशपांडे आपण ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज एकशे सात पॉईंट आठ एफ एम आनंदी रहा आनंद लुटा नाही नाही आहे नमस्कार श्रोत्यो आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम खुश रहो खुशिया बाट और अभी वक्त हो चला है एक मुलाकात इस शो का और जैसे हमने अभी तक इस मुलाकात में आपको बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलवाया उनसे रूबरू किया उनसे बातें करी बहुत सारी प्रेरणा में ली लेकिन आज की इस मुलाकात में हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत सारे बच्चे और बहुत ही हौसला बहुत ही उनके अंदर का जो उमंग उत्साह अगर मैं देख देख रही हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है तो क्यों ना हम उनसे बात करते हैं ये सारे जो बच्चे हैं वो है प्रिट्स डांस मैनियम एकेडमी के ये बच्चे हैं और बहुत ही उमंग उत्साह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनकी कुछ बातें हमारे साथ लेके तो आइए चलिए दोस्तों हम एक एक करके सबसे बात करते हैं सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुकी है यह महक तो हाय महक हाय महक कैसी हो मैं ठीक हूँ अच्छा तो तुम कितने साल की हो अभी एट एट साल की हो अच्छा तुम कौन सी एकेडमी में डांस क्लास सीखने जाती हो प्री डांस अच्छा कब से जा रहे हो उस डांस क्लास में तुम सिक्स ईयर छह साल से डांस करने जाती हो आपको डांस बहुत अच्छा लगता है yes. अच्छा अभी आप कौन से स्टैंडर्ड में हो सेकेंड सेकेंड स्टैंडर्ड में हो अच्छा आपकी हॉबीज क्या क्या है डांस सिर्फ डांस सिंगिंग सिंगिंग कोई तो एक गाना तो सुना है हम सभी के लिए छोटा सा चलिए बंदर मलो जी छत रीति पुराणी चैन हदंते आहे कान जॾहिं मींहुं करे वसकारा टुटल छटिए मां वहन सारा करे पुसाए पाणी पाणी बांदर मल जी छटी पुराणी रखी कुले ते बंदूक वांगर पुछंदो आहे को त ॿुधाए पेके वई घर जी रानी बांदर मल जी छती पुराणी वाह क्या बात है तुम्हारी आवाज में तो जादू है मैं हम सब पे जादू कर दिया थैंक यू <laughs> बहुत ही अच्छा माना तुम्हें सिंगिंग और डांसिंग ये दो शौक है अच्छा अच्छा तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है S C S S C S school कहाँ ये स्कूल उल्लासनगर उल्लासनगर में है अच्छा तुम्हारे परिवार में कौन कौन है महक मेरी मम्मी पापा भाई अच्छा तुम्हारी मम्मी पापा भाई अच्छा मैं सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हो मम्मी से या पापा से दोनों से दोनों से करती हो अच्छा अच्छा तुम्हें लाइफ में क्या बनना है मैं आगे चल के क्या बनना है हाँ डॉक्टर ना तो पुलिस अच्छा तुम्हें डॉक्टर या तो पुलिस बनना है चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं रेडियो पुनेरी आवाज की तरफ से और बहुत अच्छा लगा महक तुमसे बात करते हुए और बहुत अच्छी सुरीली आवाज़ है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जो डांस पैशन भी बने और प्रोफेशन भी बने इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद महक तुम्हारा थैंक यू तुम कुछ बताना चाहोगी जाते जाते नो no. नो <laughs> चलिए आइए आप सुनते रहिए रेडियो पुनेरी आवाज़ 107.8 एफएम खुश रहो खुशियाँ बांटो चलिए और भी बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ और मुझे लगता है काफ़ी उमंग है इन बच्चों में चलिए एक एक करके हम सबसे बात कर ही रहे हैं जी आपका नाम आर्यन आर्यन अच्छा आप कहाँ रहते हैं आर्यन मैं पुणे में पिंपरी पुणे में पिंपरी में रहते हैं आपके परिवार में कौन कौन है बहन है मेरी मम्मी पापा दादी अच्छा तो आपकी क्या हॉबी है आपको क्या करना है मेरे को साइकिलिंग अच्छा लगता है क्रिकेट और डांसिंग अच्छा आप डांसिंग भी आप कब से डांस क्लास में हो इस मैं भी छह साल से ही हूँ अच्छा आप भी छह साल से है तो इन छह साल का कुछ एक्सपीरियंस हमें सुनाएंगे आपकी मैम कैसे लगी आपको आपको डांस में कितना आपने ग्रोथ किया हमने बहुत सारे शोज़ भी किए हैं और मेरी टीचर ने भी उसकी वजह से मेरे को डांस में शोज़ में लिया है अच्छा मीन्स आपकी डांस की टीचर बहुत अच्छी है हाँ। बहुत अच्छे से सिखाती है है ना हाँ। चलिए तो आपको ये डांस एज अ प्रोफेशन के लिए करना है या बस ऐसा पैशन है आपका बस शौक है आपको डांस का शौक है सिर्फ सिर्फ डांस का शौक है आपको क्या बनना है भविष्य में मेरे को इंजीनियर बनना है ओ इंजीनियर बनना है इंजीनियर तो बहुत प्रकार के है आपको कौन सा इंजीनियर बनना है ऑटोमोबाइल इंजीनियर ऑटोमोबाइल इंजीनियर तो आइए हमारी भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ जुड़ी रहेगी बहुत सारे कार्स नए नए कार्स बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी जैसे हमने बहुत प्रकार की कार्स तो देखी है अब आप आगे का भविष्य हो और बहुत अच्छे ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन के मार्केट में एक नई कार्स भी लाएंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पे आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाए थैंक यू तो चलिए श्रोताओं अभी एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो चला है और अभी हम लेते एक छोटा सा ब्रेक आप सुनते रहिए रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 जीरो खुश रहो खुशियाँ बांटो चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया में फिर जा रे भोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर जा रे अंधियारा वतन के अंबर से चुन के अंगना में फिर आ जा रे चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आ जा रे होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे सी चिड़िया अंगना में फिर जा रे अंधियारा है घना और लहू से सना के तिनके अंबर से चुनके నామే పिर आजा ब्रेक के बाद श्रोता फिर हम जुड़ चुके हैं इस एक मुलाकात शो में और आज हम बात कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ जो प्रेजनिया इस डांस एकेडमी के स्टूडेंट्स से और जैसे अभी हमने मैम की इंटरव्यू सुना उनकी एक मुलाकात सुनी और जैसे उन्होंने कहा भी कि बहुत अच्छे बच्चे उनके साथ बॉन्ड हो चुके हैं उनकी जो बॉन्डिंग है अपने बच्चों के साथ वो बहुत अच्छी है और वो दिख रही है उनके बच्चों के साथ क्योंकि बच्चे आए हुए हैं और बहुत ही उमंग उत्साह से हम लोगों से बात कर रहे हैं तो आइए और एक बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं अच्छा आपका नाम क्या है भक्ति अच्छा आपका नाम भक्ति है आप कहाँ रहती है हाँ। मैं पिंपरी में रहती हूँ अच्छा आपके परिवार में कौन कौन है मेरी मम्मी मेरे पापा मैं और मेरी दादी अच्छा तो अभी आप कौन से स्टैंडर्ड में हो फिफ्थ अभी छुट्टियाँ लगी है हाँ तो छुट्टियों में क्या कर रहे हैं छुट्टियों में बस खेलना डांस करना अलग अलग games indoor games outdoor games खेलना अच्छा लगता है अच्छा तो डांस आपको एज अ शौक है या आपको प्रोफेशनल डांसर बनना है शौक अच्छा शौक है हाँ। फिर आपका प्रोफेशन क्या है आपको बनना क्या है मुझे बड़े होके सिर्फ मेरा एक ही मकसद है मुझे इंस्पेक्टर बनना है ओ पुलिस बनना है आपको हाँ। तो ये जो आपका शौक है डांस करने का ये थोड़े दिन के लिए है या आप लाइफ टाइम तक ये डांस का शौक रखेंगे आपके अंदर लाइफ टाइम अच्छा तो कैसे लगता है आप कितने सालों से आप इस डांस एकेडमी में हैं सिक्स इयर्स अच्छा आप भी छः साल से इस डांस एकेडमी में हाँ. आपका क्या एक्सपीरियंस है इन छः सालों में हमारी मैम बहुत अच्छी है मैं हैप्पी हूँ क्योंकि मैं हम मेरी मैम इतनी भी स्ट्रिक्ट नहीं है अच्छा। और मुझे मतलब स्टेज पे रुकने का अच्छा कॉन्फिडेंस है मैम की वजह से अच्छा। वो हमको कॉन्फिडेंस देती है स्टेज पे रुकने का तो उसकी वजह से आज मैं कहीं भी स्टेज पे रुक सकती हूँ मेरे में उतना कॉन्फिडेंस है अरे वाह और आपने कब तक कितने शो किए हैं इन छः सालों में कहाँ कहाँ शो किए बहुत जगह पर किए हैं तो सिंधी बॉलीवुड बहुत सारे किए हैं अच्छा तो वहाँ पे जब आप स्टेज पे डांस करते हो तो आपको कैसे महसूस होता है क्योंकि इतने सारे इतने सारे लोग आपको देखने के लिए बैठे हुए होती है उस समय आपके अंदर क्या फीलिंग होती है वो एक मिनट के लिए थोड़ा डर रहता है लेकिन जैसे ही डांस शुरू होता है तब नॉर्मल हो जाता है सब कुछ अच्छा फिर अच्छा लगता है डांस करते हुए अच्छा लगता है बहुत हाँ। मजा आता है डांस करते हैं हाँ। आप कभी भी कहीं भी डांस कर लेते हैं हाँ चलो बहुत ही अच्छी बात है और जैसे कि आपको इंस्पेक्टर बनना है हाँ। राइट तो ये डांस को आप प्रोफेशन क्यों नहीं बनाना चाहते हैं अगर सोचा जाए तो बना भी सकते हैं हाँ तो चलिए जैसे बैलेंस की बात करें तो आप एक इंस्पेक्टर भी बनेंगे और हाँ। डांस टीचर भी कई भविष्य में ऐसा भी हो आपके पास भी हाँ। कोई बच्चे सीखने आ जाए हाँ। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा कि बहुत अच्छे से तुमने बात बताई तुम्हारी कि बहुत रिलैक्स लगता है डांस करते समय और क्या क्या हॉबीज है तुम्हारी मुझे खेलना भी अच्छा लगता है ड्राइंग स्केचेस करना बहुत अच्छा लगता है अच्छा तो चलिए हॉबीज़ को भी आपने बरकरार रखा अपने अंदर बहुत बहुत धन्यवाद भक्ति तुमने बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को सुनाई और तुम्हारा पैशन बताया तुम्हें क्या बनना है इंस्पेक्टर बनना है तो हमारी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं जुड़ने के लिए थैंक यू तो श्रोता जब भी हम कोई बड़े लोगों से बात करते हैं उनसे उनको अगर कोई सवाल पूछते हैं उनसे जवाब लेते हैं कुछ प्रेरणा लेते हैं तो आज हम ले रहे प्रेरणा बच्चों से क्योंकि बच्चे ही आज की आज की जो नई जनरेशन है वो कल का भविष्य है और आज अगर ये भविष्य बन गया आज ये बच्चे कुछ करके बन गए तो शायद आ, कल आने वाला जो भविष्य है वो सचमुच बहुत ही उज्जवल रहेगा तो आइए और हमारे साथ एक जुड़ चुकी है उनसे भी बात कर लेंगे हाय मेरा नाम तेजस्वी है ओ वैसे मेरा नाम भी तेजस्विनी ही है तो से मेरा निक नेम तेजू है आपका भी वही रहेगा राइट राइट तो चलिए हमारे दोनों में तो दोस्ती बहुत गहरी हो जाएगी तेजू हाँ, तेजू ओके हाँ। <laughs> तो तुम कितने साल हो गए इस डांस एकेडमी हो वैसे तो तीन साल हो गए डांस एकेडमी में पर ऐसे लगता नहीं है ऐसे लगता है बहुत पुराना रिश्ता है मैम से जैसे मैम रहती है हमारे साथ बहुत ही एक रिलेशन हो गया है अच्छा सा मैडम अच्छा, के साथ अच्छा तो आपके परिवार में कौन कौन है तेजू मेरे परिवार में मम्मी पापा बहन छोटी बहन वो भी आती है मेरे साथ अच्छा वो तो बिना डांस के रह ही नहीं सकती ऐसा अच्छा है इसका। तो आप बचपन से डांस करती हो या हाँ, वैसे तो पूरा बचपन से ही शौक है पर वो रहता है ना एक डायरेक्शन देते हैं डांस का वो मैम ने दिया है मुझे अच्छा मिस बचपन में हम घर में डांस करते थे हाँ, अभी थोड़ा सा प्रोफेशनली में ऐसे वगैरह डांस तो इन तीन सालों में कितने शोज आपने किए अभी तक वैसे तो स्कूल में मौका मिलता है क्योंकि डांस आता है इसलिए स्कूल में एनुअल फंक्शंस रहते हैं वैसे है और मैम के साथ तो बहुत सारे साल में दो तीन बार होते ही है स्टेज शो अच्छा। उसकी वजह से कॉन्फिडेंस मिलता है तो आपको क्या चेंजेस लगा जब आप डांस क्लास को ज्वाइन किया उसके पहले आपके अंदर का कॉन्फिडेंस अभी के अभी का जो कॉन्फिडेंस है उसमें क्या डिफरेंस दिखाई दिया पहले तो स्टेज पे जाते हैं तो पहले डर लगता है तो अभी मैम कैसे इंस्पिरेशन देती है बहुत सारे ऐसे मोटिवेशन देती है उसके वजह से अभी डर नहीं लगता है किधर भी बोलो डांस करने के लिए कर सकते ऐसा अच्छा से एक प्रकार से कॉन्फिडेंस गेन हो गया आपके अंदर हाँ अच्छा अभी आप कौन से स्टैंडर्ड में है मैं टेंथ के एग्जाम बोर्ड्स एग्जाम अच्छा <laughs> तो फ्री हो गए हैं हाँ, बिल्कुल तो आगे क्या करियर करना चाहेंगे आप वैसे तो फैशन डिजाइनिंग ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वो करना है और मेन गोल क्या है फिर मेन गोल डिसाइड नहीं किया अभी तक ओके चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते क्योंकि नाम थोड़ा सेम है तो शायद बातें भी बहुत ही सेम हो रही है क्योंकि हम तो अपने गोल तक पहुंच ही जाएंगे लेकिन हमारे अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होना बहुत ज़रूरी है जैसे सिंगिंग डांसिंग ड्राइंग ये सब में भी ये सब भी हुनर आप में है हाँ सारे है वैसे ड्राइंग में भी मैंने इंटरनेशनल में पिकासो आर्ट किया था ओ, डांस में तो मैम लेके ही जाती है स्टेज शोज पे ऐसा है फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करती हूँ मैं अच्छा ऐसे तो ये सब चीज़ें आपके अंदर अभी भरे हुए हैं हाँ तो इसी को आगे लेते हुए आप अपने जीवन की शुरुआत करेंगे आगे की हाँ वैसे तो है सिंगिंग के भी एग्जाम्स दिए हुए हैं तो कुछ सिंगिंग है तो थोड़ा सा एक दो गा, लाइन गाना ही है आपको ठीक है आपको गाने कौन से पसंद है मतलब किस टाइप के गाने पसंद है वैसे तो सारे ही अच्छे रहते हैं बोलने के लिए पुराने हैं नए हैं जमाने के सारे अच्छे आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है तेज जो आपके दिल oh, को छू ले थोड़ा सा गाना गा के सुनाए हमें हमारे सारे शो लिए दिल कहे क्या राज है जाने क्या कर गए कैसे अंधेरों में तुम चांदनी बन गए अब चांद तारों को मशहूर इतना क्यों कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तो आई लव यू हो हो हो हे हे हे आहा हा आई लव यू बहुत ही सुरीली आवाज़ है आपकी तो जैसे कि सारे एक्टिविटीज़ आपके अंदर है मीन्स डांसिंग और सिंगिंग भी तो चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करते हुए और आपके आगे की लाइफ के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं रेडियो पुनेरी आवाज़ की तरफ से और आप यहाँ आए और बहुत अच्छा लगा हमने आपसे बात करते हुए खुश रहो खुशियाँ बांटते रहो <laughs> जैसे रेडियो का टैगलाइन ही है खुश रहो खुशियाँ बांटो चलिए दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद फिर हम जुड़ेंगे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 रहा है मुझे भी क्योंकि जब बच्चों के साथ बातें करते तो हम भी बच्चे ही बन जाते हैं और उनकी बातें सुनते सुनते कभी ऐसे लगता है कि हम भी बचपन में गए और कुछ अपनी भी हॉबीज़ अपनी भी बातें याद आती है क्योंकि हमने भी बहुत सारे शौक बचपन में पूरे किए होते हैं और बच्चों को देख और भी हौसला हमारे अंदर बढ़ता है चलिए आइए दोस्तों और एक फ्रेंड हमारे सबकी हमारे साथ जुड़ चुकी है अच्छा आपका नाम क्या है कृषिका कृषिका अच्छा आपकी फैमिली में कौन कौन है कृषिका मम्मी पापा मेरा भाई छोटा और मैं अच्छा आप कहाँ रहते हैं पिंपरी पिंपरी में रहते हैं अभी आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं मैं अभी सेवेंथ में जाऊंगी सिक्स खत्म अच्छा छुट्टियाँ लगी है हम्म, क्या चल रहा है फिर छुट्टियों में अभी मैंने सोचा था अबैक का सीखूंगी और फिर मासी के घर जाऊंगी वहाँ से नानी के घर अरे वाह हमें सारा प्लानिंग कर चुके हैं आप ओके हम्म। आपने डांस क्लास कब ज्वाइन किया है मैंने सिक्स इयर्स से ज्वाइन अच्छा मैं मतलब आपको भी छः साल हो हम्म। गए तो इन छह सालों का एक्सपीरियंस क्या है आपका डांसिंग का मैं सोचती हूँ मैम हमको ना मतलब ऐसे थोड़ा टाइम डांस भी करवाती है फिर थोड़ा टाइम कभी हम लोग बातें भी करते हैं मस्ती भी करते हैं हम्म। पहले वार्म अप करते हैं फिर डांस करते फिर लास्ट में मैम वापस वार्म अप करवाती है अच्छा आप कितने शोज कर चुकी है अभी इतने छह सालों में मैं स्कूल में भी एनुअल फंक्शन में करती हूँ और फिर हमारा डांस क्लास पे भी जब एक ईयर में हमारा वो भी होता है स्टेज शोज भी होते हैं तो मैंने बहुत सारे स्टेज शोज की हैं अच्छा तो इन स्टेज शो में आपको क्या एक्सपीरियंस आता है जब आप स्टेज पे डांस करती हो मैं स्टेज पे डांस करती हूँ बस स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा डर लगता है फिर जब भी स्टेज पे जाती हूँ तो फिर सबको देखती हूँ तो खुद ही डांस अच्छा तो डांस करना एक शौक है या सिर्फ इसको प्रोफेशन बनाना है नहीं शौक है सिर्फ शौक है हम्म। अच्छा बाकी आपका प्रोफेशन आपको बनना क्या है डॉक्टर या तो मॉडल बनूंगी ओह डॉक्टर या तो मॉडल या तो जो मरीज़ है उनका इलाज करोगी <laughs> या तो दिल के मरीज़ बन जाएंगे आपके तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करते हुए और क्या क्या हॉबीज़ है आपकी मेरी हॉबीज सिर्फ डांस है अच्छा।, अच्छा, सिर्फ डांस अच्छा सिर्फ डांस और कुछ नहीं नहीं अच्छा आपको सिंगिंग वगैरह इंटरेस्ट नहीं है इतना अच्छा नहीं लगता मतलब इंटरेस्ट नहीं है पर सॉन्ग सुनती हूँ अच्छा आप सॉन्ग सुनते हैं आपको हाँ, अच्छा हाँ, लगता है सॉन्ग हाँ. सुनने में किस टाइप के सॉन्ग सुनते हैं आप means modern songs modern song क्योंकि मैं जब भी बच्चों को पूछती हूँ तो या तो बच्चों को पंजाबी सॉन्ग बहुत पसंद है या तो इंग्लिश सॉन्ग बहुत पसंद है इंग्लिश सॉन्ग्स भी कभी कभी सुनते हो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है लेम्बोर्गी चलिए आपके लिए ये गाना डेडिकेट किया जाए आज के शो में और बहुत अच्छा लगा आप सभी से बातें करते हुए और मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मेरे ख्याल से हमारे सारे श्रोताओं को भी आज बहुत ही अच्छा लगा हुआ बच्चों के साथ एक मुलाकात इस शो में तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं सभी बच्चों का करना चाहूँगी जो यहाँ पर आए और अपना अमूल्य समय क्योंकि छुट्टियाँ लगी हुई है और इन छुट्टियाँ लगने के बाद इनका शेड्यूल बहुत पैक होता है बहुत बिज़ी होते हैं और इस बिज़ी शेड्यूल में भी अपना टाइम निकाल के हमारे साथ बहुत सारी बातचीत की इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का आप सुन रहे हैं radio Puneri Awaz 107.8 zero seven point eight F M खुश रहो खुशियाँ बांटो लंबरगिनी चलाई जाने ओ लंबरगिनी चलाई जाने ओ सानू भी झूठा दे दो इत्थे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ सानू भी झूठा दे दो इत्थे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ model down, let your mind. Tony, yeah. मैं अतुल परदेशी आप सुन रहे हो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशियां बांटो आप सुनते रहिए 107.8 एफएम